कारिका शुरू हो रहा है सांग तत्व में इसके पूर्व बताए जितनी प्रवृत्ति है तदृष्ट पूर्वक प्रवृत्ति अनुमान की भी होती है आगम की भी होती है और स्मृति की भी होती है और कुछ वृत्तियां युगपद होती हैं और कुछ वृत्तियां क्रम से होती हैं अब यहाँ पर उन वृत्तियों के अपने अपने स्वभाव बताने है स्यादेत चतुर्णाम त्रयाणाम व वृत्तियों न तावत तन्मात्राधीना इनका कहने का जो चार अं- चतुर्णा मन बाह्य साधन सहित चार माने इंद्री मन बुद्धि और अहंकार तीन कौन हो गए बुद्धि मन और अहंकार इसलिए स्याद तत् आशंकायाम लिंग उन्हें मतलब ऐसा कहने जा रहे हैं स्याद तत् किम स्यात उस पर लिखने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि चतुर्णाम त्रयाणाम वाह वृत्या मन उन चार जो बाह्य इंद्री मन बुद्धि और अहंकार इनकी जो वृत्ति मन बुद्धि की वृत्ति अध्यवसाय है मन की वृत्ति है संकल्प है अभिमान अहंकार की वृत्ति है और आलोचनम इंद्री की वृत्ति है पीछे बताया गया था अतः चतुर्णाम त्रयाणाम वृत्ति माने व्यापार न तावत तन्मात्राधीनाः माने तन्मात्रा के अधीन नहीं है माने तन्मात्र उनके अधीन होता है तो विषय के अधीन है इसलिए कह न तन्मात्राधीना तेसाम सदा क्योंकि सत्कारवादी हैं इसलिए कहा तेसाम माने चतुर्णाम त्रयाणाम वा सदा तनत्वेन वृत्तीनाम क्योंकि ये जो हमारी तन्मात्राएं हैं क्योंकि कारण कारणात्मना कार्य कार्य एक तो कार्य रूप में है और कारण उनका तन मात्राओं का अहंकार है वो भी क्या है अहंकार आत्मना रहेंगे फिर अहंकार का कारण बुद्धि है बुद्धि कारण प्रकृति है इसलिए ये क्या है किसी न किसी रूप से ये सदा रहने वाली है यदि ये सदा रहेंगी तो सदा वृत्ति होनी चाहिए जबकि वृत्ति सदा होती नहीं कदाचित होती कदाचित नहीं होती है इसीलिए उन्होंने कह दिया दीना मन कर्ण मात्राधीना तेसाम नाम मन इत मात्राधीना तन्मात्राधीना तेसाम कर्णा नाम कौन करण अंताकरण बाह्य नाम सदातन वृत्ति नाम सदातन है हमेशा रहने वाली है क्योंकि सत्कारवादी होने से हमेशा होने से सदुत्पाद प्रसंगा सदा क्या होना चाहिए वृत्तियां उत्पन्न होती रहनी ही चाहिए एक प्रसंग आया और यदि कभी कभी मानते हो आकस्मकत्व एक आपत्ति है कि सदा वृत्ति उत्पन्न होना चाहिए मैंने ऐसे वृत्ति विषय के सन्निधान होने पर वृत्ति उत्पन्न होती है जब विषय नहीं रहता है तो वृत्ति उत्पन्न नहीं होती सामान्य नियम है परंतु ये कहते हैं जो करण वो सदातन है तो क्या होना चाहिए वृत्ति भी हमेशा होनी चाहिए सामान्य नियम जो सिद्धांत है कि सब विषय के सन्निधान होने से वृत्ति उत्पन्न होगी अब विषय नहीं रहेगा तो वृत्ति उत्पन्न नहीं होगा इसलिए उसने कहा कि सदातन वृत्तियां उत्पन्न इसलिए दूसरा दिया आकस्मिकत्व यदि सदा उत्पन्न नहीं तो कभी कभी उत्पन्न होती है यदि आकस्मिक मानते हो तो दूसरा दोष है आकस्मिक मानोगे अतः बिना कारण के ही कार्य को मानोगे तो कोई कार, कारण कोई कार्य कर दे जैसे सूत्र का काम है श्रवण करना परंतु बिना आप आकस्मिक मान सूत्र क्या करे रूप को देख ले चक्षु का काम है रूप को देखना वो क्या कर ले शब्द को यही आकस्मिकत्व आकस्मिकत्व यदि आकस्मिक मानो कभी कभी होती है तब दोष ये आने वाला है कि वृत्ति संकर प्रसंगा वृत्तियों में क्या हो जाएगा संकर संकर कहते हैं ही परस्पर भाव समानाधिकरण धर्म यो हो एकत्र समावेशा शंकर मन जो इसे चक्षु रूप ग्राहकत्व धर्म हमारा है चक्षु में उसका भाव कहाँ है सूत्र में और शब्द ग्राहकत्व सूत्र उसका भाव कहाँ है चक्षु में तो ये दोनों काम स्व करने लगे तो इसको बोलेंगे शांकर तो ऐसे इन वृत्तियों में सांकर होगा किस पक्ष में यदि बिना निमित्त के ही वृत्तियां उत्पन्न होंगी तो कोई वृत्ति कोई साधन कोई वृत्ति उत्पन्न कर दे यही है आकस्मिक पक्ष में वृत्ति संकर प्रसंग वृत्ति मन कदाचित चक्षु ही शब्द ग्रहण कर ले कदाचित शब्द स्त्रोत्र रूप को ग्रहण करे शब्द को ग्रहण करे अतः या कदाचित मन निश्चय करे कदाचित बुद्धि संकल्प उल्टा सीधा हो जाए यही परस्पर जो व्यतिरेक हो जाए व्यतिरेक का मतलब होता है व्यतिरेक माने व्यतिहार व्यतिहार का मतलब होता है आदान प्रदान अन्य से योग्यम अन्य कर्म करो इति विकर्म व्यतिहारा माने जो सोत्र का काम है वो चक्षु करने लगे चक्षु का काम है वो सोत्र करने लगे इसको बोलते हैं संस्कृत में कर्म व्यतिहार वृत्तियों का आदान प्रदान हो जाना उलट पलट जाना तो वही कह रहे हैं वृत्ति संकर प्रसंगो नियम हेतु तो क्यों कोई नियम नहीं है कि कौन इंद्री क्या ग्रहण करे आपने कहा आलोचन मात्रम इंद्री तो ज्ञान कराए तो सूत्र से कुछ कर दे आपत्ति देना चाह रहे हैं अतः नियम हेतु तो अभावात मान वृत्ति के अतत गोचर जो होने कोई नियम नहीं इसलिए नियम बताने जा अतः स्वाम स्वाम प्रतिपद्यंते परस्परा परस्पराकूत काम वृत्तिम पुरुषार्थ एव न के कार्य ते करणम कने वृत्तियां का करती हैं स्वाम स्वाम अपनी अपनी वृत्ति को यह करण प्राप्त हो परस्परा आकूत हेतु काम मैंने परस्परा अभिप्राय मैंने निमित्त आत्मात्मी अभाव होकर मैंने एक दूसरे के परस्पर उपकार करते हुए उन्हें चक्षु और मन और बुद्धि और अहंकार ये सब क्या करते हैं एक दूसरे की सहायता करते हुए अपनी अपनी वृत्ति को ही प्राप्त होते हैं दूसरे के वृत्ति को नहीं प्राप्त होते हैं इसलिए उन्होंने कह दिया कि स्वाम स्वाम प्रतिपद्यंते परस्परा कूत हेतु काम वृत्ति मन परस्पर जो वृत्तियां हैं वो अपने अपने वृत्ति को ही प्राप्त करते हैं एक दूसरे के हेतु करके पुरुष इनमें कारण क्या है तो पुरुषार्थ एव हेतु मैंने पुरुष का जो अर्थ माने जो प्रयोजन वही कारण है अतः ना के नित कार्यते करण मान कोई इंद्री कुछ कर दे ऐसा नहीं नियत काम करेगी चक्षु ही क्या करेगा रूप को देखेगा सूत्र नहीं देगा अतः कार्यते करणम न के नचित मैंने उल्टा सीधा कोई कुछ ही दूसरे काम नहीं करेगा अभी तो पुरुषार्थ के कारण जो इंद्रिय का काम वही इंद्रिय उसमें करेगी अर्थात सूत्र रूप को ग्रहण नहीं करेगा शब्द को ग्रहण करेगा इसमें कारण क्या है तो बता रहे हैं पुरुषार्थ हेतु कौन है पुरुषार्थ ही हेतु है क्या हेतु है वही करणानी शेष है ऊपर से लगाना करणानी स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यंते अपनी अपनी वृत्ति को अंताकरण और बाय इंद्री प्राप्त होते हैं शेष का मतलब वो तो ऊपर से जोड़ देना तो इसमें कौन प्राप्त होता है नहीं लिखा कारिका में इसके जोड़ दिया जाएगा मैंने करणानी स्वाम स्वाम प्रतिपद्यंते परस्परा कूत हेतु काम वृत्तिम यथा बहवा अब दृष्टान दे रहा सुंदर लिख रहे हैं वाचस्पति मिश्र यथा ही बहवा पुरुषा मान युद्ध में बहुत से पुरुष हैं कोई शक्ति नाम का एक शक्ति नाम का पहले यंत्र होता था वो शक्ति को जानता है कोई यष्टि वाले लाठी होती यष्टि वाला है कोई धनुष वाला है कोई कृपाण वाला है तो जो कृपाण चलाने जानता वही युद्ध में वही कृपाण चलाएगा ये नहीं कि शक्ति वाला कृपाण चलाएगा जो शक्ति में जिसका परीक्षण है वो शक्ति वाला ही काम करेगा और जिसका लाठी मारने परीक्षण है वो लाठी मार पाएगा तो जैसे इन इन सब का अलग अलग कार्य निर्धारित है उसी प्रकार यहाँ इंद्रियों का अलग अलग है सूत्र ही शब्द को ग्रहण करेगा चक्षु यही दृष्टांत देने जा रहा है यथा यथा बहवा पुरुष यद्यपि एक युद्ध में बहुत से पुरुष हैं जैसे एक घट प्रत्यक्ष में मन भी काम कारण है बुद्धि भी कारण है अहंकार भी कारण है चक्षु भी कारण है तो एक कार्य के जनन में इतने चार तो सम्य रहेंगे ही मन बुद्धि अहंकार और एक एक इंद्रिय रहना ही है इसलिए कहने जा रहे हैं जैसे शक्ति कहा मन शक्ति नाम का यंत्र धारण करने वाला प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्षण संपन्न बोलेंगे शाक्ति का शक्ति नाम का एक यंत्र होता था पहले युद्ध में प्रयोग होता है क्या शक्ति मार दी अर्जुन ने ऐसा आता ना प्रयोग है तो वो शक्ति नाम एक यंत्र विशेष का था तो ये कह रहे हैं साक्तिका माने शक्ति को संचालन करने वाला शक्ति नाम के यंत्र को या अष्टिका मैंने अष्टी मतलब तो लाठी उस लाठी को मार करके प्रशिक्षण देने वाला भगवान याष्टिक और धनुष माने वही धनुष बाण उसको धानुष का जो धनुष बाण को करने वाला वो धानुष को चढ़ा करके कृपाण माने तलवार होता है तो कृ कार पाणिका तलवार चलाने वाला कृत संकेता मान जिसका जिसमें संकेत आक्रमण बेला में तया इदम प्रहरणीयम तुमको केवल क्या करना शक्ति का ही प्रयोग करना ऐसा प्रशिक्षण देते समय प्रशिक्षक ने बता दिया तुम्हें क्या करना लाठी ही चलाना है तुमको धनुष से ही मारना है तुमको कृपाण से ही इसी को बोलेंगे कृत संकेता कर दिया गया है संकेत अलग अलग युद्ध आक्रमण बेला में यह तुमको प्रयोग करना है अतः इनका नियम नियत हो गया फिर किस लिए करना है परास्कंद अनाया परास्कंद कहते हैं परमाने दुश्मन और उसका अवस्कंद कर मतलब निदान उसको दमन करना तो यहाँ परास्कंद नायक मतलब हुआ दमनाया दुश्मन को नियंत्रण करने के लिए ये हमने पहले संकेत कर दिया कि तुमको शक्ति चलाना है तुमको यष्टि चलाना है तुमको धनुष चलाना है तुमको कृपाण चलाना है तो जो जिसका जानकार वही कराता है उसी प्रकार यहाँ जो हमारे ग्यारह इंद्री हैं मन बुद्धि है और अहंकार है और क्या है हमारा ये है सब ये तेरह है अतः इन सब का भी क्या निश्चित कर दिया गया है कि मन क्या करेगा संकल्प ही करना है तुमको बुद्धि तुमको क्या करना व्यवसाय ही करना है और अभिमान ही तुमको करना अहंकार को और तुमको आलोचन करना है इंद्रियों को वही का तत्र अन्य तमस्य आकूतम अवगम्य अवगम्य अन्यतमा प्रवर्तते प्रवर्तमान शक्ति शक्तिमेव आदत्य इनमें अन्यतम मान बहुतों में एक एक तो ये शक्ति को जानने वाला शक्ति को लेकर चलेगा इसलिए अन्यतम शब्द का प्रमन अन्यतम मन आकूत इच्छा विशेषत्व ये आकूत मान जो समुदाय इनका है तो जो अन्यतम से आकूतम अवगम मान अन्यतम के मध्य में उस यंत्र विशेष को जान करके अन्यतम प्रवर्तते यष्टि वाला यष्टि में प्रवृत्त होता है शक्ति वाला शक्ति में प्रवृत्त होता है और धनुष वाला धनुष को करता है और कृपाण जो ले आए कृपाण का प्रत्यक्ष प्रवर्त थे और प्रवर्तमान तु साक्तिका जब युद्ध में प्रवर्तमान है तो साक्तिका शक्ति आदत थे उन्हें जो साक्तिक जो शक्ति यंत्र को संचालन करने में संपन्न को साक्तिक कहेंगे वो शक्ति यंत्र को लेता है न तो कम यष्टि को नहीं लेगा धनुष को नहीं लेगा कृपाण को नहीं लेगा भी जो यास्ती का वो क्या लेगा लाठी ही लेगा न शक्ति को लेगा न धनुष को लेगा न कृपाण को लेगा याष्टि को भी यष्टिमेव न शक्त्यादिकम तथा अन्य तमस्य कर्ण से आकूत तो इसी प्रकार ये अन्यतम कर्ण कर्णों का जो समुदाय है आकूतात कार्य कारण अभिमुखाद अपने कार्य कारण के अनुकूल अभिमुख अनुकूल तम करणम प्रवर्तते तो जो हमारा मन क्या है अपने का, जो का कार्य का संकल्प उसी को लेकर प्रवृत्त होगा बुद्धि किसको लेकर प्रवृत्त होगी अध्यवसाय को अहंकार अभिमान को इंद्रियां आलोचन को लेकर के प्रवृत्त होंगी उसी में उनका उत्साह होगा प्रवर्तते तद प्रवृत्तेश हेतु मतवा जो भी प्रवृत्ति हो तो कोई ना कोई इसका कारण होता है इसलिए हेतु मतवाद ना वृत्ति संकर प्रसंगा इसलिए वृत्तियों में परस्पर संकर नहीं है क्योंकि वो अपनी अपनी वृत्ति को लेकर के वो क्या हुए हैं प्रवृत्त हुए हैं अतः वृत्ति संकर का यहाँ अवसर नहीं है अब दूसरी बात करें कि भैया ये तो सब चेतन है और ये तो सब जड़ है माने तो शक्ति चलाने वाला है कोई पुरुष विशेष है यष्टि चलाने वाला कोई पुरुष है कोई धनुष चला बाण को चलाने वाला है कोई कृपाण को अये तो मन भी जड़ बुद्धि भी जड़ अहंकार भी जड़ और इंद्री भी जड़ इनमें कैसे होगा इति कहने जा रहे इति युक्तम तो कहने याष्टिका मन इत्यादितन याष्टिकादय चेतनत्वात परस्पराकूतम अवगम्य जो याष्टिक हैं वो चेतन होने के कारण परस्पर एक दूसरे के नियम को समझ करके वो तो काम कर लेंगे अवकूतम अवगम समझ करके प्रवर्तनते वह प्रवृत्त हो जाएंगे माने अतः वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है परंतु यहाँ कहने जा रहा क्या करेंगे करणानी तो अचेतनानी जो इंद्रिय है मन है बुद्धि है अहंकार चारों के चारों अचेतन है तस्मान प्रवर्तितुम उत सहंते मन ये क्रम से जिसका जो विषय है उसी में प्रवृत्त हो यह संभव नहीं है चेतन में तो संभव है जड़ में संभव नहीं है ये कहा पूर्व पक्ष तेन एसाम अधिष्ठात्रा नाम स्वरूप सामर्थ्य उपयोग न भवितव्यम इसलिए क्या करना चाहिए एसाम नाम मान इन जितनी इंद्रियां हैं तेन मान स्वयं प्रवर्तम प्रवर्तितुम अक्षमत्व ये स्वयं इंद्रियां प्रवर्त नहीं हो सकती हैं इसलिए इन इंद्रियों को करणों को प्रवर्तना करने के लिए इनसे कोई एक अतिरिक्त इनका अधिष्ठाता मानो वही कहना तेन जिस जैसे वह यष्टि स्वयं न प्रवृत्त होकर के यष्टिमान उसका प्रवर्तन करता है उसी प्रकार यहाँ स्वयं इंद्री जड़ प्रवृत्त नहीं होगी पर इन इंद्रियों से अतिरिक्त इनका कोई न कोई प्रयोजक अधिष्ठाता है जो इनको अपने अपने विषय में लगाएगा और परंतु इनके यहाँ कोई है नहीं बताएंगे अभी <clears throat> अधिष्ठात्रा करणानाम अधिष्ठात्रा प्रयोग अधिष्ठात्रा करणानाम किम प्रयोजक प्रयोजक न के चिंतन भवितव्य कोई न कोई अधिष्ठाता है जो इनको अपने अपने विषय में लगाता है आपको मानना पड़ेगा उसी को लिखने जा रहे हैं स्वरूप सामर्थ उप योगाभिज्ञेन माने स्वरूप क्या जाए करणा नाम स्वरूप एवं विधा यह जो सामर्थ है माने यह इंद्रिय यह कर सकती है यह इंद्री रूप ग्रहण कर सकती है ये शब्द ग्रहण कर सकती है चक्षु रूप ग्रहण कर सकता है श्रोत्र शब्द ग्रहण कर सकता है मन संकल्प कर सकता है बुद्धि व्यवसाय करता इसी का नाम हुआ स्वरूप सामर्थ्य अपने अपने स्वरूप के अनुसार जिनकी जो शक्ति है उस शक्ति को वो कौन जान लेगा सामर्थ्य उप उपयोग अभिज्ञान अभिता अभिता जानाती थी अभिता जानाती थी अभिज्ञा अभिज्ञ जो इनके अच्छी तरह से इनको जानने वाला जो व्यक्ति है जो अधिष्ठाता है वही क्या कहलाएगा यहाँ अभि, अभिव्यज्ञ है माने संपूर्ण कारणों का ज्ञाता है अब ने अभिन्न लिख दिया परंतु यहाँ क्या लिख दिया है पर होना चाहिए अभिज्ञान ज्यादा अच्छा पाठ है मैंने करना स्व स्व सामर्थ्य उपयोगा अभिन्न माने अधिष्ठात्रा ऊपर अन्य करने जा रहा है मनुष्य दृष्टमार टीका कि इन कर्णों के जो सामर्थ्य को जानने वाला उसको बोलते हैं उपयोग को जानने वाला उसका नाम है आभिज्ञ मन मन किस करण का क्या रूप है क्या सामर्थ्य है इस प्रकार के उपयोग को जानने वाला जो अधिष्ठाता है वह कोई न कोई होगा भवितव्यम तो कहे कौन है किसी ने कहा ईश्वर तो कहे ईश्वर तो मानते ही नहीं हम कहा पुरुष है पुरुष तो निर्लेप है इसलिए कह दिया पुरुषार्थ एव हेतु न के नचित कार्यते करणम यहाँ जो पुरुषार्थ वही क्या है उसका हेतु है अन्य कोई यहाँ करण नहीं है वही कह दिया पुरुषार्थ एव हेतु न के नचित कार्य थे मैंने करणों को कोई प्रेरणा नहीं देता है केवल क्या हेतु तो इनमें पुरुषार्थ क्या पुरुषार्थ क्या चीज आगे भी लिखने जा रहे हैं भोगा अपवर लक्षण पुरुषा भोग करना और अपवर्ग माने मोक्ष यही पुरुषार्थ है अर्थ अर्थते या सा पुरुषार्थ तो पुरुष क्या चाहता है संसारी पुरुष भोग चाहता है और जो वैराग्यमान हो गया वो क्या अपवर्ग चाहता है यही पुरुष के अर्थ है तो इन्हीं कारण लोग प्रवृत्त हो जाते हैं तो भोगापवर्ग लक्षण पुरुषार्था मैंने भोग और अपवर्ग अपभोग माने यही सुख दुख अन्यतर साक्षात संसारिक वसय वासना और अपवर्ग माने मोक्ष अपवृजती त्यजती अपवर्ग जहाँ सब छूट जाए उसको बोलते अपवर्ग यही है पुरुषार्थ अपवर्ग माने मोक्ष पुरुषार्थ एव मैंने पुरुषार्थ लगा था कैसा पुरुषार्थ अनागतावस्था अनागत मान होता भविष्य काल में होने वाला आदमी कुछ करता सोचता आगे चल के हमको ये होगा यानी आप ये कह रहे हैं तो समझेगा समाज का कल्याण होगा रिकॉर्डिंग करेंगे तो आगे को सोचते हैं कि पीछे को हम समझते हैं लोग तो मर के चले गए इसलिए लिख दिया कौन सा पुरुषार्थ है अनागत अवस्था जो भविष्य में होने वाला है वही अनागत अवस्था पुरुषार्थ भोगा पर लक्षणा थी हमको अभी भोग मिलने वाला भोग मिला नहीं है अभी हमको मोक्ष मिलने वाला इसी भावना से हम लोग क्या है कार्य में प्रवृत्त हैं थी कर्णानी ऐसा जो पुरुषार्थ वही करणों को प्रवृत्त करता है कृतम अत्र तत्स्वरूपाभिज्ञ करता उनका जो करता है उनके स्वरूप को जानने वाला है वही उसको क्या कराता है प्रेरणा देता है वही चरमन गुण ही प्रवर्तक है इनके कौन प्रवर्तक है जो अनाग वही गुण के द्वारा प्रवृत्त होकर के आगे बढ़ता है कैसे प्रियाय तो स्वयं संतान पचपन छप्पन सत्तावन कारिका आने वाली है उस कारिका में जैसे एक दूध जड़ चारा है गाय खाती है तो दुग्ध बनता है बछड़ा उसके मुंह डालता है वो जड़ दूध क्या होता है प्रवृत्त हो जाता है बछड़े की पिलाने के लिए बस ये वृद्धि निमित्तम ये दृष्टांत देकर वहां भी बताएंगे कि पुरुषार्थ यद्यपि यह प्रकृति जड़ है फिर भी पुरुषार्थ देने में समर्थ जैसे वह दुग्ध जड़ है फिर भी वो बछड़े को पाल देती है यही कहने अतः एतच्च वस्त्र विरुद्ध निमित्तम इतत्र उपपादित बात हम सत्ता सत्ता जो सत्तावनवीं कारिका है उसमें बताएंगे उपपादित उत्पादन करते उपवादन करने वाले हैं क्या करने वाले हैं उपमालिका या कारिका है वस्य निमित्त निमित्तम से यथा प्रवृत्तिरज्ञ पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधान से जैसे वक्त की वृद्धि के निमित्त दुग्ध की प्रवृत्ति होती है उसी प्रसार पुरुष के मोक्ष के निमित्त प्रधान की प्रवृत्ति होती है ये बताएंगे सप्तम वही कह न न केनचित कार्यते कर्ण आपने कहा कोई इनको कराने वाला नहीं है तत्र कर्णम भजते तो कहे कौन कर्ण है तो कहे कर्णम त्रयोदश विधम कर्ण कितने प्रकार के होते हैं तेरा क्योंकि एक ग्यारह हुए बाहर के मन बुद्धि और अहंकार इस प्रकार से कितने हो गए मैंने ग्यारह दस बाहर और एक मन बुद्धि अहंकार हो गए तेरह कोई नकीन चित कार्य थे कर्णम उनने कहा कर्ण को कोई करवाता नहीं है पुरुषार्थ ही करवाता तो कहा किम नाम कर्णम कौन कर्ण कर्ण माने कारक छह कारक होते हैं कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण उन छह कारकों में कर्ण नाम का जो कारक है वो कितने प्रकार का इनके यहाँ है तेरा कर्णम त्रयोदश विधम मैंने त्रयोदश माने होता तेरा तदा हरण धारण प्रकाश कम उनका स्वभाव क्या है उसका आहरण उसका स्वभाव क्या है धारण उसका स्वभाव क्या है कम प्रकाश कर्म कुछ प्रकाश करते हैं सबका लक्षण है कौन धारण करता है कौन प्रकाश करता है कौन आहरण करता है आगे लिख रहे कार्य तस्य धा इनका कार्य कितने प्रकार का है दस प्रकार कारण तेरह है और कार्य कितने हैं दस क्योंकि ये दसों इंद्रिय के साथ लगेंगे तीन इनके स्वतंत्र उन्हीं के अधीन है ये कार्य है दस और कारण है तेरह कार्य च दस दशधा कौन कौन दस आहार्यम लाना फिर उसको धारण करना फिर प्रकाश करना आहार्यम धार्यम प्रकाश इंद्रियाणी एकादश इंद्रिय कितनी है ग्यारह बुद्धि अहंकार मिला के कितना हो गए त्रयोदश प्रकारकम करणम इस प्रकार से त्रेरा ये करण हो गए इनका क्या है कारक विशेष करणम साधक तम करणम कारक प्रकरण पड़े होंगे तो जो कारक विशेष है कर्ता कर लक्षण व्यापार आश्रया कर्ता फलाश्रया कर्म यद व्यापारा व्यवधान फल निष्पादकत्व करणम उद्देश्यत्व संप्रदानत्व अवधिभूतम अपादानत्म कर्त कर्म द्वारा फल व्यापार व्यापाराश्रयत्म अधिकरणत्म ऐसा छह कारकों के लक्षण हैं तो इसमें जो कर्ण कारक है तो कर्ण कारक का लक्षण यद व्यापार अव्यवधान फल निष्पादकत्व जैसे राम बाण से बाली को मारता है पहले राम ने व्यापार किया बाण छूट गया राम बैठे फिर बाण ने किसको मारा बाली को तो किसके बाद में बाली मारा राम के व्यापार के बाद की बाण के व्यापार के बाद बाण के इसलिए बाण हो गया कर्ण यद व्यापार के अव्यवधान से फल यहाँ फल है प्राण वियोग मरण क्या चीज है प्राण का वियोग हो जाना तो कारक विशेष कर्णम न तो व्यापार आवेशम बिना और जो कारण कारक होता है बिना क्रिया के नहीं रहता तो सुंदर लेकिन न चक व्यापार आवेशम बिना कारकत्व कारक का लक्षण क्रिया जनकत्व कारकत्व इसलिए कहना बिना व्यापार के आवेश में वह कारक नहीं बनेगा जब कारक नहीं बनेगा तो कर्ण नहीं बनेगा इसलिए कारक बनाना है तो व्यापार लाना है जब कारक बने तो कर्ण बने जब मिट्टी बने यानी पृथ्वी में आए तो मिट्टी कहला जब मिट्टी कहला तब घड़ा बने ये कहने जा रहा है न तो व्यापार आवेश बिना कारकत्व इति व्यापार व्यापारावि सम्माह हर एक में किस में कौन सा व्यापार है तो बताने जा रहा है आहरण व्यापार है कर, कर्म इंद्रियों में धारण व्यापार है बताएगा बुद्धि आदि में और वही कारण प्रकाश अलग अलग सब का इंती स्व स्व मन बुद्धि अहंकार क्या करते हैं धारण करते हैं और बुद्धि क्या करती है प्रकाश मन ज्ञान इंद्रिय का काम है प्रकाश व्यापार और धारण किनका है मन बुद्धि अहंकार का और लाना किसका काम है कर्मेंद्री का तीनों के व्यापार है व्यापार विशेषम तदाहरण धारण प्रकाश कर्म यथा यथम जिसका जैसा तत्र कर्म इंद्रियाणी बाघ ने मन बाघाद इंद्री क्या करते हैं लाते हैं यथास्व उपाद अपने अपने यथा अनतिक्रम यथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार हाथ का काम है वस्तु को ले लेना पैर का काम है चल के जाना तो अपना अपना जिनका जो काम है यथा तुम उपादत्ते स्वाव्यापारे न व्यापन अपने अपने व्यापार से सब क्या हो जाते हैं व्याप्त रहते हैं बुद्धि अहंकार तो जो बुद्धि है अहंकार और ये मन ये तीनों क्या करें स्वृत्ति अपने अपने उसका वृत्ति बुद्धि का वृत्ति निश्चय अहंकार का वृत्ति अभिमान और मन की वृत्ति है संकल्प तो अपने अपनी वृत्ति के द्वारा प्राण आदि लक्षण यहाँ पीछे आया था इनके साधारण धर्म कौन है प्राण असाधारण कौन है मन का संकल्प साधारण क्या है सब में प्राण है इसलिए कहते प्राण आदि लक्षण यहाँ धारयंती अपनी वृत्ति और प्राण आदि सामान्य वृत्ति और विशेष वृत्ति धारयंती वस्तुओं को धारण करते हैं बुद्धि इंद्रिया प्रकाश इंद्री और बुद्धि इंद्री क्या करती है अपने उनका करना प्रकाश आलोचन करना वो प्रकाशित करते हैं सबके अलग अलग काम है आहरण धारण आदि क्रियाणाम सकर्मकतया आहरण क्रिया भी सकर्मक है दो प्रकार के धातु होते हैं सकर्मक एक अकर्मक धारण करो तो किसी न किसी वस्तु को धारण किया जाएगा लाओगे तो कोई ना कोई कर्म होगा कुछ जानोगे तो कोई विषय होगा इसीलिए का आहरण क्रिया धारण क्रिया और प्रकाशक क्रिया ये तीनों क्या है सकर्मक है कोई ना कोई इनका कर्म होगा और विषय होगा तो विषय माने वो कार्य होगा वही कहने आहरण धारण क्रियादि नाम आहरण धारण और प्रकाश जो क्रिया नाम सकर्मक तया ये संपूर्ण सकर्मक है सकर्मक होने से किम कर्म इन इन धारण का कर्म क्या है आहरण का कर्म क्या है प्रकाश का कर्म क्या किसे मैं प्रकाशित करूं किसको मैं लाऊं किसको मैं धारण करूं ऐसी जो आकांक्षा इसी का नाम है कर्म की आकांक्षा कद विधम तो कहे वो दस धम कार्य उनका दस प्रकार है कार्य तस्य इति त्रयोदश विधस्य कर्ण तेरह प्रकार जो कर्ण है उनके कार्य हैं दस प्रकार दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाशिंच कार्यम आहार्यम कार्य किया व्याप्यम माने आहार क्या है व्याप किससे व्याप्त है कर्म इंद्रियाणाम कर्म इंद्रिय से वचन किसका है तो वाणी वाणी से वचन व्याप्य है वचन से और आदान हाथ का विहरण पैर का उत्सर्ग गुदा इंद्री का और लघु शंका इंद्री का आनंद यथा यथम व्याप्यम आहार का मतलब व्याप्य संबंध तो व्याप्यम आहार आहार्यम माने व्याप्य आहार ते चा वो दो प्रकार के हैं एक दिव्य है एक अदिव्य है तो पांच दिव्य माने जो योगी लोग भोग करते हैं और अदिव्य जो हम लोग कर रहे हैं इसलिए कितना पांच पांच क्या हो गया दस दस धा आहार्यम कहेगा दस धाधार्यम दस धा प्रकाश दिव्या दिव्यतया दस दायित आहार्यम माने पांच हो गए दिव्य और पांच हो गए अदिव्य इस प्रकार से कितना हो गया हमारा विषय आहरण विषय दस प्रकार का हो क्यों पांच दिव्य है और पांच अदिव्य है वो बताया कि दिव्य कौन ग्रहण करेगा दशदा आहार्यम दस एवं धार्यम अपनी उसी प्रकार से क्या है हमारा ये दिव्य पांच और अपांच अदिव्य धार्यम अंताकरण से त्रयस्य प्राणादि लक्षण वृत्या शरीरन तच्छा शरीर है ना हमारा वह शरीर हम लोग कहते हैं असमदा शरीर का जली एक शरीर होता है तेजसी शरीर होता है एक वायवी एक पार्थवी ये शरीर होते हैं पांच भूतों का विकार है इनके यहाँ पांच भूतों से क्या उत्पन्न हुआ है ये शरीर अंडज उद्भव स्वेदज है ना जरायुज ये चार प्रकार के ऐसे हम लोग हैं ये शरीर हैं और जली शरीर एक होता है अलग है तेजस होता है और क्या वायवी भी नया तर्क संग्रह में है ना अशरीरम अस्मदादीनम ये तो हो गया पृथ्वी वाले का फिर जब आया जल का लक्षण शरीरम वरुण लोके प्रसिद्धम फिर जब बन्नी का आया तो आदित्य लोके प्रसिद्धम तेज को वायु लोके प्रसिद्धम ऐसा ऐसा शरीर का वहाँ लक्षण दिया मूल तर्क संग्रह में उसी प्रकार ये भी कहते हैं शरीरन चा पार्थिवादी पंचभौतिकम जो इनके यहाँ शरीर है वो पार्थिव है एक पार्थिव शरीर है एक जलीय शरीर है और एक हमारा कौन है वायवी शरीर है और एक तेजस शरीर सबके अलग अलग लोक में अर्थात जो मनुष्य यहाँ पार्थिव शरीर है वरुण लोक वाले का कौन शरीर है जलीय शरीर है वन्य लोक वाले का कौन सा शरीर है तेजसी शरीर है वायु लोकों का क्या शरीर है वायवीय शरीर है ये सब पंचभूतों के विकार ऐसे लिख दिया पार्थिवादी पांच भौतिकम पंचभूता नाम विकार भूतम पांच भूतों से उत्पन्न हुए हैं सबके सब पंच भौतिक हैं अतः शब्दादी नाम पंचा नाम समूहा पृथ्वी पीछे हम लोग पढ़े थे उसमें रूप पहले शब्द फिर क्या आया तो शब्द आया शब्द के बाद के जब हमने प्रगतेर महासतो अहंकार ऐसा जब शुरू किया था उसमें एक एक क्रम दिया था तो पहले आया शब्द आकाश में शब्द हुआ शब्द के बाद आया हमारा स्पर्श स्पर्श के बाद आया रूप रूप के बाद आया रस रस के आया गंध तो जो पृथ्वी है उसमें पांचों तन मात्राएं पृथ्वी में क्या है उसने कहा था आकाश तन मात्रा सहितात जल तन मात्रा सहितात तेज तन मात्रा सहितात और तेज वायु तन मात्रा सहितात गंध तन मात्रा पृथ्वी जाए थे ऐसा सब में लगाया था इसलिए पृथ्वी के पृथ्वी का लक्षण क्या है नैयाय की दृष्टि में पृथ्वी का के यहाँ गंधवती केवल पृथ्वी है परंतु सांख्य शास्त्र में और वेदांत में भी पृथ्वी का लक्षण कह सकते हैं शब्दादी नाम पंचानाम समूह पृथ्वी जो शब्द रूप रस गंध जो पांचों गुण जिसमें रहे उसका नाम हो गया क्या पृथ्वी शब्द गुणकम तो यहाँ भी बराबर वहाँ भी बराबर शब्द गुणकम आकाश तीनों में चलेगा परंतु वायु में क्या उन्होंने लिख रहा रूप रहते स्पर्शवान वायु ये कहेंगे ना शब्द रूप उभयवान वायु दो गुण वाला है फिर आए ये चलेगा तीज में आएगा तो शब्द रूप स्पर्श गुण त्रैवान त्रैवत तेजा तेज का लक्षण हो गया उसके बाद आया हमारा ज तेज जल का लक्षण आया तो रूप रस रूप हुआ रस हुआ स्पर्श हुआ और शब्द एत चतुर्णाम गुणानाम समूह जल बन जाएगा जल विशेष और उसी प्रकार पंचानाम शब्दादी नाम समूह पृथ्वी इनके लक्षण अलग अलग है शब्दादी नाम पंचानाम समूह पृथ्वी तेज पंच दिव्या दिव्य तय पांचों क्या है दिव्य भी है अदिव्य भी शब्द दिव्य दिव्य दो रूप दिव्य दिव्य दो तो पांच दो नहीं दस ये भी दसदा हो गया वही तो पंच दिव्यादि भी दस धीति धारियम अपनी दस धा क्या हो गया धार्यम दस धा इंद्रिया नाम शब्द रूप रस गंधा यथा यथम व्याप्यम मने शब्द किसका व्याप्य है विषय है तो हमारा बनेगा सूत्र का स्पर्श किसका विषय है तो, तो इंद्री का रूप का किसका विषय है तो चक्षुरेन्द्रीय का रस किसका विषय है रसनेन्द्रीय का गंध किसका विषय है घ्राण इंद्री का वैकर बुद्धि इंद्रियाणम शब्द स्पर्श रूप रस गंधा यथा यथम व्याप्या ते चा दिव्या दिव्यतया दस धीति प्रकाश्यम प्रकाश्यमपि इसलिए भी क्या है दस प्रकार के प्रकाश भी हैं विषय भी दस प्रकार है माने प्रकाश माने विषय और हमारा जो दूसरा कौन हो गया धार भी कितने प्रकार के हैं दिव्य आदिव्य भेद से दस हैं और हमारा आहार भी कितना है पांच गुना दस दस प्रकार का है इस प्रकार से इनके यहाँ शब्द गुण कम आकाश हो गया शब्द रूप शब्द स्पर्श उभय शब्द स्पर्श मात्र गुण तो कौन हो गया वायु हो गया शब्द स्पर्श रूप त्रैवत कौन हो गया तेज हो गया रूप रस गंध और स्पर्श इस गुण चतुष्ट जल हो चतुष्टयवत जल हो गया और रूप रसगंध पंच गुणवत कौन हो गया पृथ्वी का लक्षण इनके आगे पृथ्वी के लक्षण ऐसे बने इति बुद्धिन्द्रियाणी दुर्गंधा इति इस प्रकार से बत्तीसवीं कारिका समाप्त हुई अब आगे जो तैतीसवीं कारिका है क्या शुरू करने वाले हैं उस तैतीसवीं कारिका को प्रक्रम करने जा रहे हैं त्रयोदश विधेयक करणे माने तेरा आकरण बता दी उनके आवांतरम विभागन करो जो सबके थोड़ा थोड़ा भेद कर रहे हैं जैसे हमारा क्या हो गया द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समाया भावाय सात पदार्थ कह दिए फिर द्रव्य के आवांतर भेद कितने हैं नौ पृथ्वी का आवांतर भेद को नित्य अनित्य से दो फिर अनित्य के तीन ऐसे ये आवांतर भेद कहलाते हैं उसी प्रकार यहाँ कारणों के अंताकरण के आवांतर भेद कर अंताकरणम त्रिविधम अंताकरण कितना है तीन मन बुद्धि अहंकार अंताकरणम त्रिविधम और दशधा बाह्यम और बाह्य कितने हमारे हैं दस कौन सा इंद्री दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम ये तीनों हैं कौन अंताकरण जो है उनका विषय आख्यायति विषय संकल्प अभिमान अध्यवसायेश कर्तव्यु द्वारी भवती ये क्या करते हैं कि यह जो विषयाम मान विषय को प्रकाशित करता है ये तीनों विषयाक्षम द्वारी भवती विषया विषयम आख्या आख्याति मान संक विषय संकल्प अभिमान अध्यवसाय कर्तव्य में जाते हैं विषयाक्षम सांप्रत कालम बाह्यम ये ये तीनों हैं आदमी मर गया उसके विषय में सोच सकता है देख नहीं सकता है आगे जो है उसको भी विषय विचार कर सकता क्या देश में होने वाला है ये जो अंतर के तीनों है ये भूत का भी जानते हैं भविष्य के विषय में सोचते हैं वर्तमान को भी और इंद्रिया संबद्धम गृह गृहते नियम लक्षण है इंद्रियाद भी संबद्धम वर्तमान अभी है तभी देख सकती है वो भी कैसा होना चाहिए संबद्ध होना चाहिए तब देखेगा इन्हें कहा जाता है चक्षुरादि भी वर्तमानम संबद्धम गृहते चक्षु वर्तमान वस्तु को देखेगा और संबद्ध वस्तु को देखेगा इसलिए इंद्रियां क्या है सांप्रत कालक है मैंने केवल इसी समय वो काम करेंगे वर्तमान कालिक है अतीत अनागत को नहीं जान सकते सांप्रत कालम बाह्यम जो बाह्य करण है इंद्री एक दस मन को छोड़ देना है जो दस इंद्री है वो केवल वर्तमान काल में कार्य करती हैं त्रिकालम अभ्यंतरम करणम जो अभ्यंतर करण है वो तीनों काल में काम करता है अब ये कहें काल तो आपने बताया ही नहीं अभी तक काल इनके यहाँ माना नहीं जा सकता इस पर भी चर्चा होने वाली है कि काल आप मानते नहीं आपके यहाँ पच्चीस तत्वों में काल तत्व की गणना नहीं आती तो फिर काल कैसे कह देंगे तो बताएगा भी अंताकरणम त्रिविधम अंताकरण है तीन प्रकार का क्या उनका नाम है तो बुद्धि अहंकार मना इति शरीर अभ्यंतर वर्तित्वाद अंत मन शरीर के अंदर रहता है इसलिए अंता मन होता अंदर इसलिए इसका नाम हो गया अंतकरण दशधा बाह्यम करणम और दस प्रकार के जो इंद्रियां वो बाह्य बाहर रहती हैं ऊपर शरीर में बैठी हैं इसलिए वो क्या हो गई बाह्य करण हो गई त्रयस्य अंताकरण से जो तीन अंताकरण है मन बुद्धि और अहंकार उस पर कहने जा रहे हैं विषयाख्यम तत्त विषय गोचरम व्यापन अपने अपने विषय को प्रत्यक्ष करते हैं इसलिए विषयाख्य की विपत्ति कर रहे हैं विषयम आख्याति विषय संकल्प अभिमान अध्यवसायेशु माने वहाँ पर विषय मन आदि जो विषय भोग गोचरे संकल्प आदि सु कर्तव्य मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा चित्त के द्वारा मन मन के द्वारा संकल्प करना होगा और किसके द्वारा और बुद्धि के द्वारा निश्चय करना होगा अहंकार के द्वारा अभिमान करना होगा इनमें कब होगा जब बीच में इंद्रियां रहेंगी द्वारी भूत ये क्या है इंद्रिय हमारी क्या द्वार हैं उनको विषय को पहुंचाने वाली है जिन लोग कहेंगे द्वारी भवती उप, उप, उप, उपाय भूति है द्वारी हो जातवान बाह इंद्री तंतम अंताकरणम बाह्य पर बाह्य इंद्री के अधीन कौन है अंताकरण है बाह्य गो, गो, गोचर वृत्ति उद्भवी अंताकरण से बहिर्द्री सहायम भवत यदि बाह्य वस्तु को प्रत्यक्ष करना है तो इंद्री सहायता करेगी यही कहने जा रहा है अतः विषयाक्षम कर द्वारी भवती माने द्वार बन जाते हैं तत्व इंद्रिया आलोचने न माने आलोचन माने ज्ञान न कर्म इंद्रिया तो आदान वचन आदान निदान उनके द्वारा यथा स्वम व्यापारीण अपने अपने व्यापार के द्वारा क्या करती हैं इनको विषय प्रदान करती हैं वायांताकरण यू बाहर और अंदर के अंताकरण में क्या भेद भैया अंताकरण तो करण तो करण बाह्य करण आपने बताया एक अभ्यंतर ये दोनों काम प्रत्यक्ष का ही कर रहे हैं तो क्या इन दोनों भेद है तो है अंतर तो वाय और अंताकरण में विशेष मान भेद है क्या भेद है वाय अंताकरण विशेष अंतर महा सांप्रत कालम बाह्यम जो हमारी दस इंद्रिय हैं बाह्य इंद्री वो केवल वर्तमान वाले वस्तु को और अपने से संबद्ध वस्तु को जान सकती है परंतु त्रिकालम अभ्यंतरम करणम और जो अंदर वाला तीनों काल के वस्तु को जानता है यही बाहर के करण में और अंताकरण में भेद है बाह्य करण वर्तमान काल में प्रत्यक्ष करता है आभ्यंतर वाला तीनों काल सांप्रत कालम माने वर्तमान काल सांप्रत काल का अर्थ क्या किए वर्तमान कालम बाह्यम इंद्रियम वर्त काल में बाह्य इंद्रिय किसी किसी ने कहा तो वर्तमान समीपे वर्तमान वधवा एक व्याकरण में सूत्र है जैसे गंगायाम घोषा कह दिया तो गंगा के तट में घोष है उसी वर्तमान के समीप में वर्तमान व्यवहार हो जाता है अतः वर्तमान समीपम अनागतम अतीतम अपनी वर्तमान माने अभी अभी गए अभी तो क्या बता देता तुरंत तो जबकि वर्तमान नहीं है तो मतलब इस दीवार में छिप गया है फिर भी वो क्या है वर्तमान के समीप इसलिए अभी बता सकता है कि वो आदमी खड़ा है कौन इसलिए कह रहा है और एकदम कोई फोन किया दरवाजे में खड़े तो कह देगा दरवाजे में खड़े इसलिए अनागत उसी कह रहे हैं वर्तमान जो समीप होता है अनागतम अतीतम अभी वर्तमान वर्तमान के समीप जो अतीत थोड़ा बीत चुका है अभी आने वाले हम लोग बैठे हैं जिसने फोन किया आ रहे हैं तो हम लोग कहते हैं बैठे बैठे कहते हैं आ रहे हैं क्योंकि चलने वाले हैं और जो हम लोग पहुंचे दरवाजे के पास में वहां पहुंचेंगे फ़ोन किया आ रहे हैं तो आप आ रहे नहीं कि हम आ गए क्योंकि अब पहुंचने वाले ये तो संस्कृत के शुद्ध प्रयोग है किस नियम से वर्तमान समीपे वर्तमान पहुंचते के पहुंचाएगा उसके पहले कहता मैं पहुंच गया और जो क्या नाम है भी बैठा है फिर भी कहा चला गया क्यों वो जाने वाला था जाने बाला दस तो हम लोग कहते चला गया भाई अब कहाँ यहाँ पर वो जा रहा दिख रहे हैं फिर तो कहते हैं वो चला गया ये क्या वर्तमान समीप में वर्तमान का प्रयोग होता है अथवा जा रहा तो कहते हैं वही कहने जा रहा है अतः वर्तमान काल विषया भवती बाघ भी वर्तमान काल के विषय क्योंकि वाणी अतीत को भी बता देती थोड़ा बीते रहे वही गया है वर्तमान तो वाणी बता रही कि नहीं बता रही है तो अतीत को बता रही है तो कहे जो थोड़े आगे पीछे होता है उसको वाणी विषय कर लेती है इसलिए वो भी वर्तमान काल ही कहलाता है क्योंकि एक पाणनी का सूत्र वर्तमान पे वर्तमान वधवा अब दूसरी बात कहने जा रहे हैं त्रिकालम अभ्यंतरम करणम जो अंताकरण वो तीनों काल में प्रत्यक्ष करता है यथा नदी पूर भेदात अभूत वृष्टि आप बताइए ये गंगा जी में यदि बाढ़ आ जाए तो आप क्या समझेंगे बस तो ये अतीत काल का प्रत्यक्ष कर लिया किसने कर लिया मन ने सोच लिया कहीं बारिश आंख ने देखा भी नहीं फिर भी क्या कहता है बारिश है कैसे समझ गया वो नदी को पूर्ण देख करके वही कर नदी पूर्ण भेदात मनी नदी की पूर्ण विशेषता को देखकर अभूत वृष्टि कहीं हो गई हो अस्थि धूमात ये धूम देखा तो कहता अग्नि ही यह नगनी कुंजे नगनी कुंज कहते हैं नगनी का मतलब हो गया पर्वत हाँ नगा आगा होता ना तो उस नगनी कुंजी माने जो पर्वत में वृक्ष आदि है उनके बीच में धुआं उड़ता दिखा तो कहेगा इस नगन कुंजे अस्थि अग्नि अस्थि किसको देख करके धूम को देख करके कहता नगन कुंजे अस्ति अस्ति अग्नि ही अस्ति धूमाद यह अग्नि यह माने नगनी कुंजे एक हो गया असति उपा उप, उप, उप, उपघात के पिपीलिका दंड संचरणात् भविष्य वृष्टि जैसे यहाँ क्या लिखा ना हाँ, पिपीलिका हाँ पिपीलिका अंड संचरणात भविष्य वृत्ति क्या होती है जैसे ये यहाँ घर पिपीलिका का है उसको हम अपने मन से ना तोड़ें असत्य उपघात के उपघातक माने तोड़ देना और बिना उपघात के यदि यहाँ से चींटी अंडा ले लेकर निकलने लगे तो लोग कहते हैं ना गाँव में बारिश तो होगी देखिए वही दृष्टांत है कि यहाँ से यदि निकल रहा है तो ये किसको पता प्रत्यक्ष कर लिया भविष्य को वहाँ वाली नदी को देख करके पूर्ण भरी नदी को देख करके अतीत को प्रत्यक्ष किया यहाँ पर धुआं को देख करके वर्तमान में अग्नि इसको जान लिया नगनी कुंजर में और यहाँ का पीलिका के अंडा लेकर के स्वभावता उनको कोई छेड़छाड़ ना करे बिना छेड़छाड़ के वो क्या कर रही हैं और पंक्तिबद्ध जा रही अंडा ले लेकर के तो अब बारिश होगी भविष्य का प्रत्यक्ष किया ये तीनों दृष्टांत अलग अलग देश ले असत्य असत्य उपघात का मतलब उपघात माने तोड़ फोड़ करना और असत्य बिना तोड़ फोड़ किए स्वभावता उनकी लाइन पंक्तिबद्ध यदि चलती अंडा ले लेकर चलती भी पीली का तो पता चल जाता है कि यहाँ वृष्टि होगी वही कह रहे हैं कि उपघात के पिपीलिकांड संचरणा भविष्य वृष्टि संकल्प अभिमान अध्यवसाया भवंती उसके अनुकूल हमको संकल्प होता है कि हाँ इस देख देख करके कि वृष्टि होगी उसके बाद कहता हाँ होगी निर्णय करता है वही तद अनुकूला संकल्प और अभिमान अध्यवसाया भवंती उसके अनुसार उनके अनुरूप क्या होते मन में संकल्प होता है और अभिमान होता है अहंकार को और क्या होता है निश्चय होता अध्यवसाय बुद्धि से ये वृष्टि कालस्य अब ये तो शास्त्रार्थ कह रहा है कि आपने तो काल माना नहीं तो फिर काल क्या चीज है तो पहले आए कि मत बताने जा रहा तरह समय लेकर अतीत आदि व्यवहारा काल सच एक विभुर नित्यस्या काल एक वही लिख रहे हैं कालश वैशेषिक मते एको न अनागतादि व्यवहार भेदम प्रवर्तितुम अर्ति माने जब वैशेषिक के मत में काल एक है फिर उपाधिगत तो उसे कहा गया था भूत वर्तमान कहना चाह रहे थे कह रहा एको न अनागतादि व्यवहार भेदम प्रवर्तितुम अर्ति वैशेषिक के मत में काल एक है एक होने से वह स्वरूपता एक है इसलिए वह भूत वर्तमान अतीत इन बातों को वो नहीं कह पाएगा तो उसके लिए क्या मानेगा वो उपाधि मानता है एक काल है एक काल में तो वर्तमान प्रयोग हो तो कह रहा है ये वर्तमान काल है यह भूत काल है भविष्य काल है ये कैसे बनता है उपाधि के कारण जैसे आकाश एक है और फिर भी उसको कहा घटाकाश मठाकाश अनेक है उसी प्रकार काल एक है अतीत अनागत और वर्तमान के भेद से क्या हो जाता है उपाधि के भेद से तीन प्रकार का होता है तो ये कहते हैं भैया जिस उपाधि से काल का भेद हो रहा है हम उस उपाधि का ही नाम काल रख लेंगे आप एक काल अलग मानने जा रहे हो और उस काल के भेद के लिए एक नई उपाधि मानने जा रहे हो हम कहेंगे जो उस काल को उपाधि निर्धारित करेगी हम उस उपाधि का इनाम क्या मान लेंगे काल मान लेंगे तो अलग से हमको काल नाम का पदार्थ नहीं मानना पड़ेगा क्या नहीं मानना पड़ेगा काल नाम का ये पदार्थ नहीं मानते हैं कौन सांख्य लोग काल नहीं मानते वेदांत में भी काल स्वतंत्र पदार्थ नहीं अविद, काले अविद्येश काला अविद्या का नाम काल है कोई काल वहाँ पदार्थ नहीं है कालस्तु वैशेषिका अभिमत एको नानागति व्यवहार भेदम प्रवहित रहती वह पहले भूत हो से वर्तमान व्यवहार कैसे करेगा एक में तो उसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर व्यवहार करेगा उपाधि के भेद से तस्मात अयम यही उपाधि यही उपाधि भेद ही है यह जो काल है जिन उपाधि विशेषों के द्वारा अनागतादि व्यवहार भेदम प्रतिपद्यते जिन जिन उपाधियों के द्वारा यह अनागत भूत भगवान भेद को प्राप्त करता है मन उपाधि भी कार्यारंभक स्थिति कार्य निरोधाद रूप क्या उपाधि हैं उन उपाधियों के द्वारा इसे बहुतर अल्पतर दिन का राज उपाधि कहता है माने जिसमें बहुत दिन का संयोग होगा वो क्या कहलाएगा बड़ा और जिसमें कम दिन का संयोग होगा छोटा तो यही तत्त जो सूर्य की किरण क्रिया को उपाधि मान करके काल का भेद करता है वो कहता हम उसी से मान लेंगे अलग क्यों मानेंगे वही कहने जा रहे हैं रूप ही बहुत अल्प दिन कर आदि उपाधियों के द्वारा कहते हो अतः अनागत व्यवहार परापर दिव्य भेदेन हो जाएगा उसके लिए अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है वही कर यही उपाधि भी अनागतादि ही एक काल होने पर भी मान अनागत आदि व्यवहार को भेद करने के लिए जो जो आप उपाधि मानोगी उन्हीं उपाधियों को हम भी क्या मान लेंगे मैंने कहेंगे जो प्राग भावीन यह कालो विच्छिद्य अनागत काल यह क्या कहेगा उनका लक्षण करेगा प्राग भाव वीन यह काला विच्छिद्यते सा अनागत काला या ध्वंसा भावीन अविच्छिन्नो काला सा अतीत काला ये मानेगा तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ध्वंस इनके यहाँ क्या चीज है पूर्वस्थापन्न हो जाना प्राग भाव क्या चीज है माने पहले कारण में कार्य को रहना तो यही हो गया उनकी उपाधियां माने अतीत काल की उपाधि क्या है तो ध्वंसा का ना यो कालो अवच्छिदते मन ध्वंस कालावच्छिन्न जो ध्वंसे न जावच्छिन्ना सा काल अतीत काल अजा प्राग भावी न यह कालो अवच्छिद्यते अनागत काल का जो तारिकों के यहाँ जो उपाधि है यह उपाधि के भेद से यहाँ पर भेद आ रहा है वह उपाधि जो विशेष है वो तत्त हम क्या मान लेंगे पदार्थों को मान लेंगे वही काल कोई अतिरिक्त नहीं है अतः संत ए उपाधया अनागत आदि व्यवहार हेतु वो उपाधि अनागत आदि व्यवहार का हेतु हो जाएंगे किंकृतम अंतर्घटना काले न जो एक अतिरिक्त आप बीच में काल मानने जा उससे कोई लाभ नहीं है उपाधि से भूत भविष्य का ज्ञान हो जाएगा वर्तमान व्यवहार चल जाएगा तो बीच में काल मानने कोई आवश्यकता नहीं अंतर्गढ़ माने मध्य में मानने की आवश्यकता इति सांख्याचार्यों का यह मत है तस्मात न काल रूप तत्वांतरम अभ्युपगमा इसलिए काल नाम का कोई स्वतंत्र तंत्र हम क्या नहीं मानते पदार्थ नहीं मानते या हम मानते नहीं हैं इस प्रकार का अवाया चौतीसवा कारिका सांप्रत विषयाणाम बा इंद्रियाणाम विषय विवेचयति आपने कहा सांप्रत काल में बाह इंद्री लग, काम करती है तो कहे कौन सांप्रत पदार्थ है उनका कौन विषय है तो बुद्धि के दो प्रकार का विषय बता रहा है बुद्धिन्द्रियाणा बुद्धिन्द्रियाणी तेसाम पंच विशेषा विशेष विषयाणी जो बुद्धिन्द्रिया पांच हैं उनके विषय क्या हैं कुछ विशेष विषय हैं और कुछ अविशेष विषय उनका कुछ विशेष है वो विशेष बताएंगे शांत घोर मूढ़ ये हो गए उनके विशेष और उनसे भिन्न कौन हो गए अविशेष कौन शब्द रूप रस गंध तन मात्राएं ये है अविशेष और शांत घोर मूड ये क्या है विशेष यही कहना चाह रहा है विशेषा विशेष विषयाणी वाग भवती शब्द विषया एक केवल बाघ इंद्रिय ऐसी केवल शब्द को विषय बनाती है शेषाणी कितनी इंद्रिय बची हमारी जो ज्ञान इंद्रिय में बुद्धि इंद्रिय क्या बची चार वो चारों शेषाणी तो पंच विषयाणी कराए पांचों को विषय बनाएगी केवल बाघ इंद्रिय शब्द को विषय बनाती है विलक्षण विलक्षण पढ़िए बुद्धि इंद्रियाणी माने बुद्धि इंद्रियाणी तेसाम माने दशा तेसाम नाम इंद्रियाणाम जो दस इंद्रिय हैं पंच पांच उनके विशेषा विशेष विषयाणी विशेषा स्थूला शब्दादया वो कौन सी चीज है शब्दादि शांत घोर मूढ़ रूपा ये सब विशेष हैं शब्द रूप रसगंध जो विशेष हैं स्थूल और शांत घोर मूड आगे लिखने का बताएंगे सबका भेद पृथ्वी जल तेज वायु ये हो गए विशेष पृथ्वी आदि रूपा अविशेषा तन्मात्राणी आप विशेषार्थ क्या लेना रूप रस ये पांच जो तन मात्रा सूक्ष्म लेना जो सूक्ष्म जो शब्द आदि हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे अविशेष कहेंगे और विशेष क्या कहेंगे हम लोग और विशेष हो गए स्थूल आदि विशेष हो गए अतः अस्मिन लक्षण में होगा मन श्रवण स्पर्शन दर्शन आदि रूप जो विशेष सहित सत्व प्रधान अहंकार से श्रवण स्पर्श धर्म विशेष कहानी पांच ज्ञान इंद्री उसी प्रकार वचनादि विसर्ग शून्य विशेष शून्य से रजा प्रधान अहंकार से रजा प्रधान अहंकार वो क्या करेगा वचन आदान विसर्ग आदि रूप पंच विशेषकाणी पांच कर्म इंद्राणी ऐसा ऐसा इन सब का भेद अलग अलग करेगा अलग अलग सभी से उत्पन्न हुए थे वही कहने जा रहे हैं अतः भूतम क्योंकि मात्र शब्द भूत भावम अपाकरोत यहाँ मात शब्द कह दिया तो जो पांच जो भूत है उनको हटा देना अपाकरोत में हटा देता है वो सूक्ष्म नहीं कहलाते हैं विशेषा अविशेषा समाज करने जा रहा द्वंद विशेषा विशेषा ते एव विषया ऐसा बुद्धिन्द्रियाणाम तानी विशेषा विशेष विषयाणी विशेषा विशेष विषय कहलाते हैं ये उन्होंने कहा अब यहाँ पर सबका विषय पहले बताया था जी इसे शब्द तन मात्रा शब्द तन मात्रा वाला कौन है आकाश है फिर शब्द तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा वाला कौन है दो वायु वह एक एक गुण बढ़ता रहता है इसलिए वह अपने अपना इंद्री का विषय बनता जाता है क्योंकि बाघ का विषय शब्द क्योंकि बाघ किसका विकार है तो बताएगा तेजस अहंकार सात्विक का है और उसमें क्या मिला रहता है तेजस भी मिला रहता है पीछे होता है तानी यथोक्तानी तत्र ऊर्ध स्रोतसाम इन्होंने कहा ऊर्ध जो रेता लोग होते हैं योगी लोग होते हैं वो अपने स्रोत्र से संपूर्ण शब्द को प्रत्यक्ष कर लेते हैं दिव्य को भी मान सूक्ष्म को भी और स्थूल को भी तन्मात्रा को भी और आकाश में रहने वाले शब्द को दोनों को प्रत्यक्ष करते हैं कौन वही कहा था तत्र ऊर्ध स्रोत शाम योगी नाम ऊर्ध रेतसाम योगी नाम होना चाहिए मान जो ऊर्ध रेतस है ऊर्धमेव कदाच अधा श्रोता रेता का नाम श्रोता मैंने ऊर्ध स्रोत शब्द में रेत का वाचक ऊर्ध्वम रेता स्रोतो ए शांति इसका कभी भी विस्खलन नहीं हुआ है वो उसका क्या कहते हैं ऊर्ध रेतस कहते हैं ऐसे जो योगी नाम भीष्म आदि हैं उनका नाम ऊर्धरेतस ऐसा योगी नाम श्रोत्रम शब्द मात्र विषय वह क्या कहा था शब्द मात्रा का विषय कर लेता है मतलब सूक्ष्म को जान लेता है स्थूल शब्द विषय स्थूल को भी कर लेता है अस्मदादी नाम तो जो ऊर्धरेतस नहीं है वो क्या है हमारा केवल स्थूल विषय को ही प्रत्यक्ष कर सकता है एवं तेसाम त्वक स्थूल सूक्ष्म स्पर्श विषया इंद्री से क्या हो जाएगा उनकी इंद्री है योगियों की वह स्थूल को भी स्पर्श कर सकती है और सूक्ष्म को भी स्पर्श कर सकता है योगियों की अस्मदादी नाम जो केवल स्थूल स्थूल स्पर्श को तुगिंद्री कर सकती है सूक्ष्म को नहीं एवं चक्षु उनका क्या है स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों ग्रहण करेगा और हम लोगों का केवल स्थूल का और अच्छा, एवं चक्षुरादयोपी तेसाम अस्मदादी नाम रूप आदि से सूक्ष्म स्थूल विषय द्रष्टव्या उनका जो स्थूल सूक्ष्म दोनों को प्रत्यक्ष करेगा योगियों का और हम लोगों का केवल नहीं करेगा एक स्थूल विषय को ही करेगा वही कहने एवं कर्म इंद्री सुमध्य बाघ और जो कर्म इंद्री कितनी है पांच उनके मध्य में जो वाघ इंद्री जिसका कंड ताल स्थान है तो बाग भवती शब्द विषया और शब्द विषय करती केवल शब्द को बोलते और कुछ नहीं कौन से शब्द को स्थूल विषया तद हेतुत्व स्थूल शब्द को हमारी वाणी बोल पाती सूक्ष्म को नहीं बाघ इंद्रियण सह एक का, कारण तत्व बाघ इंद्री केवल एक कारण वाली बाघ इंद्रियण सह एक कारण तत्वात माने बाघ जो इंद्रिय है बाघ इंद्रिय मन स्थूल विषय को प्रत्यक्ष करती है और कैसे एक उसका केवल कारण है आगे वाले में सब मिल मिल करके एक कारण तत्व क्योंकि इसका एक ही कारण कौन था केवल शब्द मात्र और आगे वाले में क्या है शब्द भी है स्पर्श भी सब जगह आगे चलता जाए एक कारण तत्व शेषाणी तो चतवारी चतवारी कौन बची पायु उपस पाणी पादाख्यानी पंच विषयाणी मान पांच विषय वाले मान स्थूल विषय ग्रहण करती हैं पाणाद्याहार्याणम माने हाथ से जो लाना है मैंने पानी से आहार या आहार है ना इंद्री इनका काम है ढोना केवल इनका ज्ञान कर्म इंद्रियों का काम क्या है विषयों को ला ला कर देना घटादी नाम शब्द स्पर्श रूप गंधात्मक ये घट में क्या चीज है शब्द भी है गंध में स्पर्श भी है रूप भी है रस या गंध है अतः शब्द आदि पंच विषयाणी भवंती इसका मतलब है पानी ने जब घड़ा को पकड़ा तो पांचों विषयों को पकड़ लिया ये कहना चाह रहा है पाण्यादि आहारयाणाम घटादीनाम पंच शब्दात्मकत्वात ये क्यों इनमें पांचों चीज है उस पृथ्वी में इसलिए पांचों को विषय करता है अन्य पंच विषयाणी कर्म इंजन बाघ एक विषय वाली है बाकी पांच पांच विषय वाली है अब आया पैतीसवा कारिका का आरंभ कर रहे हैं शाम प्रथम बता दिया अब जो बचे अंत वाले तीन उन पर बता रहे हैं सांप्रतम त्रयोदशसु करणेशु केशांचित भाव केशांचित प्रधान भाव अब ये कह रहे हैं कि जो तेरा करण है कौन इनमें इसे बुद्धि है इंद्री पांच है ज्ञान कर्मेंद्री पांच है मन है बुद्धि और अहंकार इनमें परस्पर एक साथ करते हैं कि कोई इनमें गुण प्रधान होता है मन प्रधान है ये उसके होने वाले की आज्ञा पालन करने वाले हैं तो गुण प्रधान मतलब में कौन प्रधान है कौन छोटा और बड़ा कौन साधन है कौन उनका साधक है इस प्रकार का विचार करने जा रहे हैं गुण प्रधान भाव का मतलब है न्यूनाधिक भाव छोटा बड़ा पन बताना चाह रहे हैं त्रयोदश करणेशु केशांचित गुण भाव गुण माने विशेषण भावम जो लाला को ढोना नौकर भाव एक तरह का होगा केसांचित प्रधान भावम कौन उनमें मालिकपन है इन इंद्रियों में सहेतुकम आहा शांता करणा बुद्धि सर्वम विषयम अवगाहते तो भैया सबसे बलवान तो बुद्धि ही है वो सबके विषय को समझती है सब ये उनको देती है जा करके इसे राजा के पास सब वस्तु रख देना राजा समझेगा वही काम किसका है बुद्धि है सब में प्रधान इन तेरह करणों में कौन प्रधान है बुद्धि और ये इंद्रियां क्या करती द्वार हैं विषयों को ला ला कर देने वाले लिख रहे वही करना बुद्धि ही वही है प्रधान सर्वम विषय अवगाहते यशमा जिस कारण से संपूर्ण विषय का अवगाहन करने वाली जो या अंताकरण जो बुद्धि है वह है प्रधान त्रिविधम करणम बचे तीन इधर वाला मन मन एकादश इंद्री और अहंकार एक करण है द्वारी द्वाराणी शेषाणी वही त्रिविधम करणम द्वारी मन द्वार द्वाराणी माने माध्यम द्वार माने द्वार वाला और द्वाराणी माने द्वार इसलिए कह रहा है एक वचन है कर्णम द्वारी अलग हुआ द्वाराणी शेषाणी बाकी सब क्या हो गया कर्ण जो बाय इंद्रिय सब द्वाराणी है और द्वारी मान होता प्रधान इसका मतलब अंदर वाले प्रधान है और बाहर वाले अप्रधान है माने बाहर वाले गुण है और अंदर वाले प्रधान है वही लिख रहे हैं शांताकरणा इति द्वारी मैंने प्रधानम द्वारी शब्द किया प्रधानम शेषाणी करणानी बाहेन्द्रियाणी द्वाराणी मन गौणानी वो द्वार मैंने गौण माने हैं शरीर उपनीतम मैंने इनके द्वारा ढोया गया समान माने दसो इंद्रियां लाएंगी उपनीत माने ज्ञात कराया गया सर्वम विषयम समनो अहंकार बुद्धि माने मन और मन से युक्त अहंकार से जो युक्त जो बुद्धि होती है वह क्या करती है इनको ग्रहण करती है यस्मात अवगाहते अवगात में अध्यवस्थित निश्चयत निश्चनोती तस्मात वा इंद्रियाणी द्वाराणी द्वारवती चा शांता करना बुद्धि तो जो बुद्धि का है प्रधान है और ये सब क्या उसके द्वार हैं ये सब के सब क्या हैं द्वार हैं किसके द्वार हैं अंताकरण प्रधान है उसके एकादश इंद्री ग्यारह जो इंद्रियां हैं में जो दस इंद्री हैं वो तो मन अंदर चला गया तो जो ये दस इंद्री हैं वो द्वार भूत है ढोने वाले हैं और वो समझने वाले हैं इस प्रकार से यहाँ उन्होंने कहा अवगाहते द्वार वतीच अंताकरण बुद्धि मनोहंकार द्वारवत्व रूपम प्रधानम बाह्यकरण अपेक्षा बाह्यकरण की अपेक्षा प्रधान है ध्यान दीजिए माने एकादश इंद्री माने ये गुण है उसमें मन प्रधान है फिर मन अहंकार के बीच में चलेंगे तो अहंकार प्रधान है मन गौण है जब बुद्धि में चलेंगे तो केवल बुद्धि प्रधान है मन भी गौण है अहंकार भी गौण है और ये इंद्री भी गौण है एक दूसरे क्रम चलता जाएगा न केवलम छत्तीसवीं कारिका का उपक्रम आरंभ कर रहे हैं न केवलम बाह्य इंद्रियाणी अपेक्ष प्रधानम बुद्धि मैंने कहला है केवल बाह इंद्रियों को केवल अपेक्षा कर बुद्धि काम नहीं करती अपितु ये अपी दो बचे अहंकार मन सी लिंग में ये दो अहंकार जो मन सी है द्वारा ये भी द्वारी है किसके अपेक्षा बुद्धि की अपेक्षा बुद्धि है द्वारी और ये और दूसरे की अपेक्षा ये भी द्वारी है अर्थात ये इंद्रियों की अपेक्षा मन क्या है प्रधान है मन की अपेक्षा कौन प्रधान है अहंकार है तो ये भी द्वारी भी और द्वार भी है ये दोनों में कटागरी है द्वार में भी आते हैं द्वारी में द्वार किसके हैं तो बुद्धि के द्वारी किसके हैं इंद्रियों के इसलिए दोनों धर्म में है इसमें मन और अहंकार में बुद्धि में केवल क्या है द्वारी द्वारी है इंद्रियों केवल क्या है द्वाराणी द्वाराणी है ये इन दोनों और बीच वाले में दोनों धर्म है न केवलम अपेक्ष प्रधानम बुद्धि तो ये अपि अहंकार मनसी द्वारिणी ते अपि अपेक्ष बुद्धि प्रधानम बुद्धि उनके अपेक्षा भी क्या है प्रधान है अर्थात मन और अहंकार के अपेक्षा भी बुद्धि प्रधान है इसी बात को कहने जा रहे एते प्रदीप कल्पा परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा यद्यपि प्रदीप होता ना दीपक उसमें रुई है तेल है और अग्नि है ये तीनों विरोधी हैं हम एक काम करते हैं वही कह रहे जैसे प्रदीप कल्पा मैंने प्रदीप सदृशाहा मैंने यह प्रदीप दीपक के समान है गुण प्रधान भाव इनमें भी रहता है वही कह रहे हैं ऐसे प्रदीप कल्पा परस्पर विलक्षण ऐसे वो सब विलक्षण वैसे भी विलक्षण है गुण विशेष भाव एक दूसरे गुणी प्रधान भाव है कृष्णम पुरुष से अर्थम प्रकाश बुद्धो प्रयच्छन्ति जितना संसार का कृष्णम समग्र अर्थम पुरुष से अर्थम माने भोक्ता के लिए संपूर्ण ला ला करके बुद्धि में देते हैं बुद्धो प्रयच्छन्ति बुद्धि को सब देते हैं कौन देते हैं माने कृष्णम अर्थम पुरुष प्रकाश माने सब प्रकाश करके संपूर्ण ढो ढो करके या कौन अहंकार मन इंद्रिय सब ला ला के किसको देते हैं बुद्धि को देते हैं बुद्धि प्रयच्छन्ति मन बुद्धि में ला करके रख देते हैं एते वही दृष्टान देने जाएगा जैसे बड़ी सुंदर बात का एक गांव का दृष्टान दे रहा है जैसे गांव का प्रधान अपने गांव वालों से पैसा कर लेगा फिर देगा जिला वाले को जिला वाला देगा प्रदेश वाले को वही दिख रहा है क्रम से यथा ग्रामाध्यक्षा कौटम्बिकेभ्य कर्म आदाय जैसे गांव का जो मालिक होता है तो जो गांव में रहने वाले जनी है उनसे कर ले करके करो थी विषयाध्यक्षाया प्रयक्षती ग्रामाध्यक्षा जो उस क्षेत्र का जो नगर का जो मालिक है उसको जाकर वो देते हैं जनपद अध्यक्ष क्या कर देते हैं विषयाध्यक्ष माने एक तरह का जनपद अध्यक्ष को देते हैं वो क्या करता है विषयाध्यक्ष सर्वाध्यक्षाया जो विषयाध्यक्ष है सबका मालिक है उसको जाकर के क्या देता है और सा वो फिर जाकर राजा को देता है सर्वाध्यक्षा सा जहाँ भूपत है राजा का तथा इंद्री किसको देती है मन को मन किसको देता है अहंकार को और अहंकार जाकर के अपने रागी भूत जो बुद्धि है उसको देता कितना क्रम बना सुंदर अतः बाह इंद्रियाणी आलोच्य मन से समर्पयंती बाल क्या करती हैं आलोचना करके मन को देती हैं मन संकल्प मन संकल्प करके अहंकाराय समर्पित अन्य कर दीजिए अहंकार से अभिमत अभिमान करके क्या करता है सार्वाध्यक्ष भूतायाम बुद्धौ मतलब सबका अध्यक्ष भूत जो बुद्धि उसमें समर्पण करता है तद उत्तम इसलिए कहा है पुरुष से अर्थम प्रकाश बुद्धो प्रयच्छन्ति इसलिए पुरुष के लिए प्रयच्छन्ति बाय इंद्री मनो अहंकाराश्य मने बाय इंद्री भी गुणभूत हो गए मन भी गुणभूत हो गया अहंकार भी गुणभूत प्रधान कौन हुई केवल बुद्धि वही के बाय इंद्री मनो अहंकाराश्य गुण विशेषा नाम गुण कौन कौन है सत्व रज तमसाम विकारा ये सब क्या है मन और अहंकार सब सत्य विकार है ते तो परस्पर विरोध इसीलिए यद्यपि तीनों विरोधी हैं कौन विरोधी है सत्व रज और तम तीनों विरोधी हैं फिर भी वो दीपक के तरह काम कर रहे हैं परस्पर विरोध शीलाहा अपि पुरुषार्थी न पुरुषार्थ क्या चीज है भोग और अपवर्ग क्या भोग अपवर्ग रूपेण दो ही पुरुषार्थ हम लोग वहां लेते हैं चार चतवार पुरुषार्थ यहाँ कह दिया है भोग और अपवर्ग भोग के अंदर कौन हो गया धर्म अर्थ और काम भोगापवर्ग <clears throat> अपवर अपवर्ग भोगापवर भोग और अपवर्ग दोनों हो गया ना वही कहने भोगापवर्ग रूपेण एक वाक्यताम नीत भोग और अपवर्ग रूप जो कार्य है उसके लिए सब एक वाक्यता जैसे प्रकार यथा बर्ती का तैल बनया बत्ती है तेल है और आग है संतम सन तमसा अपनयनी न है तीनों मिलकर के क्या करते हैं तम को अलग करते हैं अंधकार को करते हैं नहीं करते हैं उसी प्रकार ये तीनों मिलकर के पुरुषार्थ को संपादन करते हैं सब प्रकाश आए मिलता अपने प्रकाश के लिए मिल जाते हैं प्रति एवं एते गुण विशेषा इस योजना उसी प्रकार परस्पर विरोधी होते हुए भी भोग अपवर्ग के लिए क्या हो जाते तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं यहीं तक रखा जाता